अच्छा साहब अब आइए जल्दी से एक के बाद एक 1966 की वार्षिक संगीत सीढ़ी के चार पायदानों पर नजर डालें गीत नंबर 15 की फिल्म फूल और पत्थर से जहां तक मुझे याद है मीना कुमारी और धर्मेंद्र की जोड़ी काफी हिट होने लगी थी साहब मगर पायदान नंबर 15 का वो गीत धर्मेंद्र के लिए स्क्रीन पर मीना जी ने नहीं शशिकला ने गाया था लपे मलिस थी या खुशी तेरी दीवानी करते दीवाने खुशी तेरी दीवाने लपे मलिस अच्छा बहनों भाइयों देखिए मेरा काम तो गीत माला की छाओ में है बस थोड़ी सी गपशप करना छाओ के गीत और हिट गीतों की झलके पेश करना और अगर मेरी इंटरव्यूज की लाइब्रेरी में कोई अच्छा सा टुकड़ा मिल जाए मुझे तो उसे भी जड़ देना है मैं कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हाँ अगर आपको फिल्म संगीत की डिटेल हिस्ट्री चाहिए तो माँ ने प्रेमचंद की किताबें पढ़ी है खासतौर पर डेज मेलेडीज टूडेज मेमोरीज और अब तो वही तीन और बड़ी जोरदार किताबें भी आ गई हैं हिंदी में हमारे परम गीतमाला प्रेमी प्रोफेसर अनिल भार्गव की नई किताब स्वरों की यात्रा और दो किताबें इंग्लिश में मशहूर जर्नलिस्ट राजू भारतन की लिखी हुई a journey down memory lane और टीवी प्रोग्रामों और कंस्ट्रक्शन की दुनिया की इंटरनेशनल हस्ती त्रिनेत्र बाजपाई और उनकी बेटी अंशुला की किताब दोज मैग्निफिसेंट म्यूजिक मेकर्स हाँ तो भाई इन सब के मुकाबले में आपका दोस्त अमीन सायानी जो भी कहता है ना वो तो सिर्फ कुछ ख्वाब है कुछ असल है कुछ तर्ज अदा है <laughs> लेकिन शुक्र है मेरा ये स्टाइल गीत माना में भी और गीत माना की छाव में भी संगीत प्रेमियों को पसंद आता रहा है वरना तो वो कभी के मुझे रिजेक्ट कर चुके होते ये कहकर दोस्तों मेरा ख्याल है फिल्म दिल्लगी का ये वार्षिक पायदान नंबर चौदह का हिट गीत चुलबुली अच्छी प्यारी उषा मंगेशकर को गाते हुए सुन लिया होगा उनके आसपास के सभी कुंवरे उम्मीदवार लड़कों ने और सब नाराज होकर भाग गए होंगे वरना तो कई नौजवान तैयार हो जाते उनसे वही कहने के लिए जो राजकुमार ने कहा था मीना कुमारी से फिल्म काजल में सालाना पायदान नंबर तेरा पर छू लेने दो नाजुक हो तो कुछ और नहीं है जाम है ये छू लेने दो नाजुक हो तो कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी इनाम है ये दो नाजुक हो तो मगर अब जरा दिल थाम के बैठिए क्योंकि इस मोड़ पर मीना कुमारी की मधुर आवाज कुछ कहने वाली है आपसे राजकुमार के बारे में इतनी सारी फिल्मों में मेरे साथ काम करने के बावजूद वो आज भी मेरे लिए अजनबी हैं मेरे ख्याल में शायद बहुत कम लोग होंगे जो राज साहब को सही मानों में जान सके होंगे राज साहब न सिर्फ बहुत अच्छे अदाकार हैं बल्कि बड़े अच्छे शायर भी हैं मैंने कई बार उन्हें सुना है बहुत अच्छा लिखते हैं उनकी आवाज में बहुत अच्छा बहुत ही आ, बड़ा असर है उनकी आवाज में अच्छा साहब उस साल नंबर बारह पर वो गीत था जिसने एक तरह से फिल्मी दुनिया के एक बड़े ही शानदार प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर गुरु दत्त के चले जाने के गम के जख्मों पर मरहम का काम किया था बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली बहारे फिर भी आती है बहारे फिर भी आएंगी बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली फिल्म बहारें फिर भी आएंगी गुरुदत्त की आखिरी प्रोडक्शन थी जिसे गुरुदत्त के चले जाने के बाद उनके भाई आत्मा राम ने मुकम्मल करवाई मशहूर डायरेक्टर शाहिद लतीफ की मदद से लतीफ की आत्माराम साहब ने मुझे भी बुलाया था फिल्म का प्रीव्यू गुरुदत्त स्टूडियोज में देखने के लिए और बहनों भाइयों आज तक उस प्रीव्यू का असर तारी है मेरे दिल पर खासकर उस फिल्म के गीतों का आपके हसीन रुख से आज नया नूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है आपके हसीन रुख से आज नया नूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है है भला की शोखिया दबी दबी हसी में भी सड़प रही है बिजलियां शबाब आपका शबाब आपका शबाब आपका नशे में खुद ही दूर दूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है जहाँ जहाँ पड़े पदम वहाँ फिजा बदल गई जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई कि जैसे सर बसर बाहर आप ही में ढल गई किसी में ये कशिश किसी में ये कशिश किसी में ये कशिश कहाँ जो आप में हुजूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है आपके हसीन रुख से आज नया नूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है बिन गहन कहा तो कुछ जरूर है मेरा इल्म चल गया तो मेरा क्या कसूर है और इसके बाद जब हम पढ़ते हैं उन्नीस सौ छियासठ की सालाना पायदान नंबर 11 पर तो एक और सुरीले संगीतकार की याद उभर आती है साहब मास्टर सोनिक जिन्होंने कई बड़े संगीतकारों का साथ देने के बाद अपने संगीत निर्देशन में पहला शानदार संगीत दिया अपने भतीजे ओमी के साथ फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया लेकिन बैरव भाइयों अब मैं याद करूंगा उस इंटरव्यू को जो सोनिक साहब ने मुझे दिया था और जिसकी बात सोनिक साहब ने शुरू की थी उस फिल्म के कहानीकार और गीतकार जी एल रावल से एक्चुअली होमी के साथ जोड़ी उन्होंने ही बनाई क्योंकि हम लोग रोशन जी के साथ दिल ही तो है मैं असिस्टेंट और मैं अरेंजर के तौर पर काम कर रहा था जी तो जीएल साहब ने महसूस किया कि इन लोगों को एक छोटी सी फिल्म देनी चाहिए हम्म। क्योंकि इनमें कुछ गट्स नजर आते हैं जी तो उन्होंने एक मुखड़ा दिया ट्यून करने के लिए जी कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पर भंवरा डोले हाँ हाँ बहुत ही खूबसूरत गाना है वो तो जी तो वो ट्यून करने के लिए उन्होंने दिया तो हम लोगों ने पांच छह ट्यूने बनाई उनकी जी तो पांच छह ट्यूने बनाने के बाद ट्यूने सुनाई गई हम्म। अब ट्यून सुनाते ही जीएल साहब की क्या नेचर है कि दो ट्यून उनको पसंद आ जाए हम्म। वो एकदम लड़कों की तरह नाचना शुरू कर देता अच्छा हाँ और चुटकी बजा बजा के उस ट्यून को गाना शुरू कर देते हैं ओहो अच्छा तो सभी ट्यूनों के ऊपर नाचे वो और बड़े खुश हुए अच्छा यहां तक कि वो खुद कंफ्यूज गए कहने लगे यार समझ नहीं आती मैं कौन सी ट्यून इनमें से सिलेक्ट करूं हम्म, आप लोगों को जो ट्यून अच्छी लगती है आप दोनों को वही ट्यून आप रिकॉर्ड करवा दीजिए कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले लो आया प्यार का मौसम गुलो गुल गार का मौसम कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले जब तू चमन में आए हर उन मुस्कुराए जब तू चमन में आए हर उन मुस्कुराए है बेहिजाब तेरा क्या बाप हम हो गए दीवाने लो आया प्यार का मौसम तेरे दीदार का मौसम कलियों ने झूंगट खोले हर फूल से भवरा डोले अगर 1966 की सालाना संगीत सीढ़ी के पायदान नंबर 11 पर जो गीत बजा था ना वो था इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग दिल ने फिर याद किया बल्ब सी लहराई है दिल ने फिर याद किया बल्ब सी लहराई है फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए दिल ने फिर याद किया अच्छा भाई अब उस साल की पायदान नंबर दस पर आप जरा संभल कर कदम रखिएगा हाँ क्योंकि फिल्म में इस गीत से पहले इसके हीरो हीरोइन के बीच लगता है कुछ गर्मा गर्मी हो गई होगी शम्मी कपूर की अटखेलियों से नाराज होकर साधना ने उन्हें डांट कर कहा होगा बदतमीज तो शम्मी बोले बदतमीज कहो या कहो जानवर मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया बचाओ कोई संभालो कोई ओ मेरी जान जा मैं तबाह हो गया हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला और उससे ऊपर वाली पायदान नंबर नौ पर फिर साधना ही थी मगर अब की बार कश्मीर में फिल्म आरजू की शूटिंग के दौरान राजेंद्र कुमार के साथ और दोनों की ट्यूनिंग जो थी यानी शूटिंग में भी और हर शूटिंग से पहले और बाद में भी उसे देखकर वहां बुलाए हुए सभी जर्नलिस्ट ने बहुत बहुत मजा लिया साहब <laughs> मैंने भी लिया मैंने आपको बताया था ना वॉल्यूम 24 में कि मुझे भी शूटिंग देखने के लिए श्रीनगर बुलवाया गया था वाह भाई बड़ी कहकहों भरी दोस्ती थी राजेंद्र कुमार और साधना में और उसके बारे में राजेंद्र जी ने एक बार मुझे बताया था साधना थोड़ी मुझसे छोटी थी हमारी दोस्ती दोस्ती इस तरह से जिस तरह दो लड़कों की आपस में दोस्ती होती है हम एक दूसरे से बड़े तू तराक से बात करते हैं बड़े बेलिहाज होकर बात करते हैं और वो दोस्ती बढ़ती चली गई फिर एक वक्त आया कि हमने एक साथ रवेल साहब की तस्वीर मेरे महबूब में काम किया वो तस्वीर बेहद कामयाब हुई हमारी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई तो ये जो साधना है ये इतनी अच्छी कलाकार तो है ही वो आप सब लोग जानते हैं इतनी अच्छी लड़की है इतनी अच्छी इंसान है कि मैं तारीफ में जो कुछ भी कहूँ कम होगा खैर साहब आप आरजू का वो नवी पादान का गीत तो सुन लीजिए बहनों और भाइयों फिल्म आरजू से जुड़े हुए कई महान लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे रामानंद सागर शंकर जयकिशन मोहम्मद रफी हसरत जयपुरी राजेंद्र कुमार फिरोज खान महमूद बल्कि फिल्मों और फिल्मी संगीत के ऐसे सैकड़ों सितारे हमें छोड़कर चले गए हैं खैर ये आना जाना तो सदियों से होता ही रहा है और होता ही रहेगा हम तो बस इतना कर सकते हैं कि उन लोगों की याद अपने दिल से कभी जाने न दें बेदर्दी बाल तुझको मेरा मन याद करता है बेदर्दी यादों का ये तीखा मीठा सिलसिला अब और आगे बढ़ता है और हम आ जाते हैं 1966 के हिट पायदान नंबर आठ के पास उस पर एक बड़ा ही खूबसूरत मगर अनोखा सा गीत था वो किसी प्रेमी प्रेमिका के बारे में नहीं था बल्कि माँ के बारे में था और फिल्म तो माँ से भी एक कदम आगे थी <laughs> यानी दादी माँ उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी जरूरत क्या होगी ए माँ ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी और जो गीत उसका नंबर सात पर हिट हुआ उसने तो वही एक तरह से चमत्कार कर दिया फिल्मी जगत के टॉप के गीतकार शैलेंद्र ने उसे प्रोड्यूस भी किया था डायरेक्टर तो उन्होंने बहुगुणी बासु भट्टाचार्य को चुना मगर आर के फिल्म की टीम के कुछ लोग भी उनके साथ हो लिए जैसे खुद राज कपूर शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी और मुकेश सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो वो फिल्म थी तीसरी कसम जिसका ये गीत नंबर सात पर हिट हुआ बहुत ही सुलझी हुई फिल्म थी गीत भी बहुत चले मगर शैलेंद्र जी की शायराना तबीयत को उस फिल्म के बनते बनते कितनी तकलीफ पहुंची इसका जिक्र एक बार शैलेंद्र के बेटे शैली शैलेंद्र ने किया था मुझसे मगर शैली की आवाज आपको सुनाने से पहले मैं भारी दिल से आपको ये बता दूं कि शैली शैलेंद्र जो खुद भी बहुत ही अच्छे गीतकार थे वो भी बहुत कम उम्र में अपनी अच्छी सी बीवी और प्यारे से बच्चों को छोड़कर चले गए इस दुनिया से अच्छा भैरव भाई अब सुनिए शैली की आवाज अपने पिता के बारे में और तीसरी कसम के बारे में अमीन साहब आप तो जानते हैं कि फिल्म से जो भी ताल्लुक रखता है हम्म। वो अपनी दिल्ली तमन्ना रखता है कि एक दिन मैं अपनी तरह की फिल्म बनाऊं और हम्म। उनको एक अच्छी कहानी मिली हम्म। और उसको लेके वो उन्होंने तीसरी कसम बनानी शुरू करी लेकिन उस दौरान जो उनको उनके साथ जो हादसे गुजरे उससे वो बहुत ही मतलब दुखी हुए बहुत ही सदमा पहुंचा लेकिन ये जो तुम कहते हो हादसात हुए ये सिर्फ पैसों के मामले में या कुछ पर्सनैलिटी क्लैशेज वगैरह भी थे आप तो जानते हैं कि वो बहुत जज्बाती थे हम्म। और उस दौरान जाने अनजाने उनको दोस्तों और रिश्तेदारों से चोटें पहुंची कभी कभी होता ही है कि आदमी सोचता नहीं कि इसका असर सामने वाले पे क्या होगा लेकिन बाबा तो जज्बाती थे हम्म। और वो दिल्ली दिल में हर चीज मतलब जब्त करते गए हम्म। और हुआ ये कि आखिर में मतलब इसकी कीमत अपनी जान से उनको चुकानी पड़ी बहनों और भाइयों वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे मैं भी एक बार फंसने लगा था फिल्म प्रोड्यूसर बनने के चक्कर में वो तो शुक्र है कि ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया वरना आज मैं आप सबके साथ आराम से गीत माने की छाओ में बैठकर कैसे ले पाता मीठे या मसालेदार गीतों का मजा से लौटिए माला रेडियो प्रोग्राम की सन 1966 की एनुअल संगीत सीढ़ी पर संगीत उसकी छठी पायदान पर जो गीत था ना उसे मैंने इस वॉल्यूम की रिकॉर्डिंग से कुछ दिन पहले यानी फरवरी 2011 में जब टेलीविजन पर देखा तो दंग रह गया ये जानकर कि शम्मी कपूर ने तो टोक्यो जाकर भी अपनी धूम धमाके की हरकतें छोड़ी नहीं थी साहब बल्कि उछल कूद करते करते एक रास्ते पर भागते भागते वो एक जापानी औरत से टकराए और उसे धड़ाम से गिरा दिया खैर शुक्र है शम्मी साहब ने फिर ऐसे झुक झुक कर उससे माफी मांगी कि वो जापानी लड़की उन पर फिदा हो गई जैसे शम्मी कपूर फिदा हो गए थे आशा पारिक पर ले गई दिल गुड़िया जापान की ले गई दिल गुड़िया जापान की वही लव इन टोक्यो के एक और गीत की शूटिंग का जिक्र एक बार आशा पारेख ने स्टेज पर किया था मेरे दोस्त रजनी मेहता के एक शो में तो रजनी भाई से रिक्वेस्ट करके मैं आशा जी का वो डिस्क्रिप्शन यहाँ सुनवाता हूँ आपको सुनिए मुझे याद है वो बारिश का गाना था और वो गाना तो पिक्चराइज हो गया बहुत ही खूबसूरत गाना था शंकर जयकिशन जी की धुन थी और बारिश में पिक्चराइज किया गया उस पिक्चराइजेशन में काफी पांच छह दिन लगे और जैसे ही गाना खत्म हुआ मैंने छींकना शुरू कर दिया क्योंकि उसके बाद वाकई ही जुकाम हो गया था मुझे खैर टोक्यो की बरसात के बाद अब इस भीगी रात की झलक सुन ले जो उस साल नंबर पाँच पर बरसी थी जो न कह सका वही रात कहने की रात तो आ गई मगर इस हसीना का क्या होगा जिसका पायदान नंबर चार पर बदले के फिल्म मेरा साया न सिर्फ हर लिहाज से बड़ी ही हसीन फिल्म थी बल्कि सस्पेंस भी इसका बेमिसाल था उस जमाने की एक हिट मराठी फिल्म पाठ लाख से ली गई थी मेरा साया की कहानी खैर अब हमें देखना है कि वो कौन सी हिट संगीत से लबरेज एक और फिल्म थी जिसके एक गीत ने सारे जमाने को झुमा दिया था नंबर तीन पर धूम मचाकर इसमें आशा भोसले के साथ साथ वो छुई मुईसी फिर भी तड़ाकेदार लड़की थी जिसका नाम था मीनू पुरुषोत्तम वाला जो वो मगर भाई उस फिल्म ये रात फिर न आएगी में ओपी नैयर के सुरों की सिर्फ शरारत ही नहीं थी बल्कि शहद भी तो था फिर मिलोगे कभी इस बात कर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 सालाना पायदानों पर बजने वाले गीतों ही के और गीत आज बहुत सारे हो गए और कई और फिल्मों के भी छाव वाले गीत आज बजाने के लिए बाकी हैं अगर उनकी कम से कम एक एक झलक भी मैंने नहीं बजाई ना तो फिल्म संगीत की मतवाली लड़कियां तो जरूर मुझसे नाराज होकर कहेंगी बेमुरवत बेवफा बेगा गुदगुदाती आवाज फिल्म सुशीला के लिए रिकॉर्ड की थी सी अर्जुन ने गीतकार थे हमारे जावेद अख्तर के हद लजीज अब्बा जान अख्तर एक और अच्छा सा गीत जो उस साल छाव में रह गया था वो था फिल्म ठाकुर जरनेल सिंह का शायद इस गीत के गीतकार संगीतकार के नाम तो याद होंगे ही नहीं है असद भोपाली के लिखे हुए इस गीत को संगीत में ढाला था लक्ष्मी प्यारे के प्यारे लाल साहब के बड़े ही गुणी छोटे भाई गणेश ने गणेश जो कई साल पहले कई लाजवाब तर्जे देने के बाद इंतकाल कर गए